अगर अपने सीखे नहीं गए तो लोटा हो सकता है अभी चीजों को है क्या सिखा रहे मदीने जाने वाले भी सीख लो इनको भी मदीने से टीका सेवन यही काम करते हैं जो जीता जाने वाले मक्का जाने वाले एयरपोर्ट पे जो अमल करेंगे ये जुल हुलेफा मदीने से बाहर निकलते हैं तो एक बहुत बड़ी मस्जिद है मस्जिद पीने अली उसको कहते हैं समझ गए वहां सब एहरा वाले कुछ लोग होटल में से भी मानते तो उम्र के चार काम कितने काम बहुत आसान अच्छा। उम्र के कितने काम पहले दो तो मर्द दूसरे दो तो वाजी तो चार चार जरूरी हो गए एक भी छोड़ नहीं सकते पहला काम एयरपोर्ट पर पहला काम का है देखो मदीने वाले फिर से सुन लो मदीने जाने वाले ये एहराम नहीं मानते मदीने जाने वाले अभी कोई बात अच्छी नहीं है कौन मक्का जाएगा ना कौन मदीना जाएगा समझ गए मदीने वाले मदीने से एहराम बांधेंगे कहा से बने तो पहला काम एहराम पहला काम दूसरा काम तवाफ दूसरा काम तो तवाफ कहाँ होगा एयरपोर्ट पर तीन कला है ना तो यहाँ सात चक्कर मारते तो चलेगी नहीं समझ गए एक काम एक जगह पर रहेगा दूसरा काम चार जगह याद कर लो पहला काम एयरपोर्ट पर दूसरा काम बैतुल्ला मस्जिद हराम तीसरा काम पहाड़ पर तीसरा काम समान पर्वत दो पहाड़ है मस्जिद के साथ में शहर है उसमें लगे हुए दो पहाड़ है तो तीसरा काम पहाड़ पर चौथा काम हजार की दुकान पर चौथा काम याद रहेगा या अपना बुरा हो गया और मुश्किल है क्या आसान है सच्ची गई पहला काम एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट पर एहराम बात रहेगा एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट पर अपना अभी एयरपोर्ट पर खड़े जाओ एयरपोर्ट पर अपना वो तो चार काम कर देंगे कितने काम याद रखिए वहां पर पहले तो पैसा पानी या वजू कर देगा पहला काम पैसा पानी वजू दूसरा काम एहराम की चादर बांधना एहराम की चादर अपनी बॉडी के हिसाब से लगेगा पिस्तालीस बना होना चाहिए बना कितना होना चाहिए एक हाजी साहब पुलिस है तो छत्तीस बना लेके आए इतना ठोका समझ गए पिस्तालीस बना कॉटन का कपड़ा है तो बहुत अच्छा सवा दो मीटर अढ़ी मीटर कैसा तो अपनी बॉडी वो एकदम टूटा बंदा हो तो वो दो मीटर में क्यों हो जाओ देखो ये छेड़ा है ना ये भाग इसको बदल के नीचे ले जाए क्या कहा ले जाएगा पहला काम क्या किया उन्होंने एयरपोर्ट पर अरे बोला पैसा पानी तो है किया पहला काम दूसरा काम है की चादर देखो ये भागे थे ये बर्फ पर घुटन के अंदर जाना चाहिए बगल के नीचे बराबर ये भाग को भी बगल तक ले जाना फिर तो खाली मोड़ दे सरका हो गया इसको पतला पतला बाहर की तरफ बांध लेना किधर बांध लेना बाहर अंदर वाले के तो ढीला होगा बाहर वाले के तो फिट होगा गए बाहर की तरफ वाले के तो फिटिंग चालू ये दोनों के थोड़े पहले पॉइंट है ये वीडियो पहला काम पैसा पानी और बुजो एयरपोर्ट पर खड़े लगा भटका खड़े लगा भाई दूसरा काम चादर पाना एहराम की चादर तीसरा काम दो रखा तभी नमाज पड़ा तीसरा काम क्या करेंगे देखो इसमें तो कुछ करने का नहीं है जैसे अपने सर्दी के अंदर साल उठते गए ये तो दोनों हाथ ढीले थे वो छूटे आज आप नमस्कार बहुत जगह है माशाला आज इतना कूल बहुत बड़ी बात माशा अभी हमें एयरपोर्ट पर खड़े दो काम हो गए पेशा पानी वजू एहराम की दो दर्द को सीख कर काम ठीक है चल फिर दो रखा कभी नमाज पढ़ी एहराम की चादर की दो रखा कभी एहराम की चादर की पहली रकात का अलहमद के बाद कुलिया तो का फिर दूसरी रकात का अलहमद के बाद उल्लू वसाहू सलाम फेरने के बाद सर पे से कपड़ा टोपी जो भी है उसको हटा दें सलाम फेरने के बाद उसके बाद नियत है ऐसा मैं उम्र की नियत करता हूं आसान फरमा क्या करेगा ये भूल होने की जगह है अब कोई ने बाजू में छोड़ लिया कि उभरे की नीयत कर रहा है तो उसने मारा गोला कि भाई अपने तो हज पड़े जाना ऐसा हज पड़ूंगा उभरे की नीयत में फिर हज भी लिया तो ये किरान में दाखिल हो गया कैसा हो गया अब इसका ऐसा उभरेगा नहीं समझ गए इसलिए बड़ा पर पक्का याद कर लो अपने उम्रे की नियत करें कौन सी नियत ऐसा उम्रे की नियत करता हूँ आसान करवा उसके बाद तीन मरतबा लम्बे पड़े لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك अब हम एहराम पे दाखिल हो गए क्या पे दाखिल हो गए ये अभी तक चादर थी अभी अब हो गया एहराम क्या हो गया आठ पाबंदी आ गई कितनी पाबंदी पहली पाबंदी सर और चेहरा खुला रहेगा मर्दों की बात चल रही सर और चेहरा खुला रहेगा बदन पर कोई सिले हुए कपड़े नहीं होंगे चड्डी गड्डी सिलवार कपड़ी सब उतर गया तीसरा मियाँ बीवी साथ में हो तो बेहिजाबी की बात नहीं करो चौथा नख नहीं काटे पांचवा मैल नहीं निकालने का पांच नहीं तोड़ देंगे छठा शिकार नहीं करने का शिकार की तरफ इशारा नहीं करेंगे सातवा ये हड्डी अपनी ऊपर की उभरेगी हड्डी खुलने रहे इसके लिए दो बटी की दे देंगे पत्ते पट्टी वाली बूट पौजा नहीं पहन सकते मरद और खाने के बाद खुशबू से बचा कैसे बचा खुशबू खाने की भी खुशबू पीने की भी समझ गए खुशबू लगाने की भी सूखने की भी खुशबू से बचा वो सब आएगा बाबा अभी बर्फ की बात करती है पहले बर्फ तो सीख रहा है फिर औरत का भी आएगा साथ में जाएगा हाँ, बिल्कुल अच्छा हो जाती है समझ गए कितने वाले हाँ, हाँ, पक्की याद कर लो सात बात पे टेंशन नहीं है कितनी बात पे पहली बात सर और चेहरा खुला रहेगा टोपी उतार के बैग में रखी थी अब कोई हैराम की हालत में टोपी पहन के दिखेगा दूसरा बदन में से कपड़े उतार के रख दिए तो कोई इसके ऊपर कंपनी पहनेगा समझ पड़े जाना कंपनी लाओ पहले तो आइटम दिखे है हाँ ठीक है बिगड़ आएगा ये हैराम के ऊपर कंपनी पहनी बराबर ये आइटम केवल है क्या सूरत के आइटम में देखो सोचने की बात है तीसरी बात मियाँ में भी साथ में है तो सेक्स की बात नहीं करनी उसको भी खबर है कहा जा रहे हैं हज उमरा पड़ेगा बराबर भीतर से नहीं निकला है गुरु मनाली शिमला है सबको खबर है कपड़े कहाँ जा रहे हैं इच्छा है कि ध्यान जाएगा इसे वो भी टेंशन रहेगा दस नहीं काटे देखो ટૂંકમાં को सबसे दस કાટે देखो बराबर आज रविवार है दो दिन हो गए दस बड़े हो गए ये हैरान इंशाल्लाह दस कलाक में उतर जाएगा कितने कलाक दस कलाक में इंशाल्लाह हैरान उतर जाएगा उमरा हो जाएगा दस कलाक तो दस कलाक में नख बढ़ेगा जो जुम्मा से जुम्मा नख काटता होगा ना इंशाल्लाह उसके तो बढ़ेगी और कोई ऐसा आदमी है जो महीने महीने नफर नहीं काटता होगा तो, तो उसके सोचना पड़े इंशाला ये टेंशन बराबर मैं नहीं निकाल देगा अरे पान नहीं तोड़ देगा देखो सुबह से कितना सूरज गर्म है पसीने निकल रहे बराबर अब यहाँ बात तो सूरज मैं निकलता है भाई कौन रोज नहाने वाली कौन है दुकान तो धंधे कारोबार में जाती तो नहा धोके जाती है सही बात है तो मैं चढ़ेगा दो चार दिन का दिन आ रहे तो पसीना पसीना जोड़े रहे उनको मैं जोड़ समझ गए भाई इससे इसी मसला इच्छा था हज में जाने से पहले उम्र का हैराम मानने से पहले पूछ बना ली जहरे नाम बगल वगैरह की सफाई कर ली तो बात करने का कोई मसला आएगा था बात बजे होगी छठी बार शिकार भी करेगी यहाँ कितने हरण मारने गए लोग कोई ने हरण मारी आज तक ससले को मारा कोई तो हरण मारने का ससले मारने का हैर में लगा आने की तीन में मसला जीका का मसला चाला दो बटे की सीमत में क्या मिलेगी तो हड्डी अपनी खुली रहेगी तो फूट पाने पहनेंगे हम लोग तो कोई मसला आ जाएगा तो इन सात बातों में कोई टेंशन आठवीं बात जो है सूरत वालों के लिए बहुत लग रही है ठंडे पीने आइसक्रीम खाने की समझ गए अब भी रमजान के लिए अल्लाह के मदद से सबने कितने कला का रोजा रखा चौदह पंद्रह सोलह कितने बजे बंद करेगा हमारे पांच बजे खाने का बंद करेगा है और पौने सात बजे अपने सात बजे रोजा शुरू किया कितने घंटे अपने चार बजे चौदह घंटे तो दस घंटे अपने नहीं रह सकते आईसीयू भी दस घंटे भी दस ठीक है इंशाला याद रहेगा घंटे से बचना कैसे बचना आइसक्रीम खट्टा सिंथेटिक कलर जिसमें डाला है इसमें एसेंस है वो सब चीजों से बचेगा एयर में बैठे एयर हॉस्टेस रस्ता का शरबत देगा अभी कपड़ों कपड़े ना गया तो बाजू वाले ने मारा गोदा क्या मारा भाई ले लेने अपनी टिकट में इंक्लूड है अब वो बेचारा हाजी साहब की बात मान लीजिए हाजी साहब ने अरे एक गलत तो रस्ता का ठोका तो कितने का पड़ेगा ये कब लगेगा अरे भाई अभी तो उन्होंने नियत ध्यान कर ली थी है अभी छूटछाट बाद में बताएंगे अभी उन्होंने नियत क्या करी हाँ एयरपोर्ट नियत कर ली थी उन्होंने अब रस्ता का गला था समझ गए अभी बता दो वो भी बताएंगे आप जो कह रहे हो वो भी बताएंगे भाई जगह बहुत है अंदर आ जाओ जब हमारे आदि साहब इतनी मेहनत कर जरा अच्छा से बैठो और बलों का आएंगे वापस लेकिन मछली भरत का नहीं किए दो हजार से छत्तीस हाजी मंजूर हुए हज कमेटी कितने दूर वाले अलग समझ गए इससे उसमें से आधी हजारों को निकाल रहा तो मैं एक हजार का अठारह तो भरी है ना हाँ इंशाला सब सब आ जाएंगे इंशाला याद रहेगा भाई आठवीं पाबंदी खुशबू से बचा कैसे बचा खास याद रखें खुशबू से आदमी ऐसा रहता है और सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते अपने कहाँ पहुंचेंगे इंशाला चिंता पहुंचेंगे कहाँ पहुंचेंगे हाँ मक्का जा रहा है ना वो कहाँ जा रहा है इसलिए वो आ है किताबों में लिखा है नियत करके लंबे पढ़े उसके बाद एक दुआ है अल्लाह इतनी असलों का विदा का जन्ना व नाउज का मीन दर्द बेटा बन रहा तेरी रजा मांगता हूँ और जन्नत का सवाल करता और तेरे गुस्से से बना मांगता हूं और दोजर की आग से बना मांगता हूं उसके बाद दुआ मांगे ऐसा आसानी कर रही हो तंदुरुस्ती रही हो अर्थात अच्छी तरह अदा कर रही हो वहाँ के आदाब के साथ रहने की टॉपिक किताब रखवाई हो बार बार जाना नसीब हो गए उसका इंतजाम कर दे हमारे सफर को आसान कर दे कबूल कर दे पीछे की चीजों को छोड़ के जा उनकी जो हिफाजत करेगी ऐसी मोटी मोटी दुआएं मांगे समझ गए मांगने वाले तुम मांगते मेरे बाजू में खाली का बैठे थे उन्होंने लंबे कोई और दुआ के लिए हाथ उठाया तो जीता था दुआ मांगी हो जीता मेरे बाजू में बैठे इसलिए गया खाने का ऐसा ना गया उसने खैर हमसे इसको हाथ बता दें मांगने वाले तो इतना मांगते पहला मौका है खाली का इसलिए प्रॉब्लम में नहीं रहते कैसे नहीं जब भी हम ऊपर चढ़े नीचे उतरे पोजीशन बदले तो लंबे पड़े तीन बता बदलते हर काम को संसद के मुताबिक करने की कोशिश करें देखो अलहमदुल्ला अब तो दो चादरें बांधी कितनी बांधी एक बाजे तो नहीं चले है भाई एक बाजे तो चले कोई आदमी के पास ऊपर की जगह नहीं तो खाली बीच बांधी तो वो भी चल जाए लेकिन अपने दो क्यों बांधी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बांधे थी कपड़ों ने कितनी बांधी अच्छा कोई काली पीली नीली भूरी बांधे तो ठीक है चले अपनों ने सफेद क्यों बांधी हमारे नबी ने कौन सी बांधे हमारे नबी को सफेद बनना तो हमने भी कौन सी बांधी एक वक्त सफेद पड़े नब्बे पड़ नब्बे का नब्बे नब्बे तो ये उम्र में दाखिल हो गया और उन्होंने कितनी उम्र पड़ी क्यों क्यों तीन उम्र पड़ी अल्लाह के नबी ने कितनी उम्र पड़ी एक आदमी धीरे धीरे पड़े तो हो गया जोर से जोर से पड़ी हमारे नबी ने लंबे जोर से दो रकात नमाज जो पहले पढ़ी हमने उसमें अलहमद के बाद दुनिया काफिर पड़ी और तुम हो साधु अब कोई आपके ये काम रहेगा तो बड़े तो नहीं करें अरे बोलो नमाज तो मिलेगी लेकिन हम तक गई क्या छूट अल्लाह के नबी ने पूजा आप जरूर पड़ी तो हम भी क्या पढ़ेंगे जो भाई को याद थे वो याद कर लेंगे अभी टाइम है बढ़ा है हर अमल को सुन्नत के मुताबिक करने की हम कोशिश ताकि सुन्नत का गुण अमल में सुन्नत का और जो अमल में सुन्नत आएगी वो अमल कबूल होगा वो अमल तो सब नियत करके ध्यान हर अमल को कैसे करेंगे सुन्नत के तो देखो ये पहला अमल आपको ने किया सारे अमल में सुन्नतों की पूरी रियायत है तो उम्र के कितने काम चार पहला काम एयरपोर्ट पर एहरा पर एहरा में चार काम किए कितने काम किए पहला काम बेटा पानी बुजुर्ग दूसरा काम एहराम की चादर पड़ी तीसरा काम दो रखा नंबर नमाज पड़ी और सर पे से कपड़ा हटाकर उमरे की नीयत करके नफले पड़ी ये चार काम एहराम की एक काम हो रहा दुआ मांगी अब हमारा प्लेन चल रहा है जितना पहुंच जाएंगे जितना में जिस बस में हमारा सामान चढ़े उस बस में हम लोग बैठे वहाँ खड़े खड़े कोई कोई तो ऐलान नहीं सब कुछ सीट मिलेगी सबको क्या मिलेगी सबको सीट मिलेगी मुतावर करने की जरूरत लंबे पढ़ते रहेंगे नमाज का वक्त आ गए तो जौहर की चार के बदले दो पड़े चार के बदले असर की चार के बदले ईशा की चार के बदले भजन पूरी पड़ेंगे पब्लिक की पूरी पड़ेगी ईमान अगर ईमान अगर मुकीम है वहां का लोकल आदमी है तो वो चार पड़ेगा तो हम भी चार पड़ेंगे समझ गए नमाज को छोड़ना नहीं है नमाज को नमाज पढ़ते हुए लपेट पढ़ते हुए हम मक्का पहुंचे क्या पहुंचे पक्का मक्का जाने के वक्त रस्ते में ऐसी कमान आई रोड के ऊपर रियाज ये हदूद हरम इसमें जब हमारी बस दाखिल होगी तो एक सुबह अल्लाह पढ़े तो एक लाख का सवाल एक अलहम तो पढ़े तो एक लाख ऐसा ही तेरा हरम आ गया मेरे बाल को मेरे खाल को तक की आपसे बचाना इसके आदाब की रियायत करने की पवित्रता यहाँ के लोगों के दिलों में हमारे मोहब्बत डाल इनकी मोहब्बत हमारे दिलों में इस तरह से दुआएं मांगते मांगते अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए दाखिल हो गया अल्लाह उन्हें ईमान वाला बनाया तो मुझे एंट्री मिली अगर मैं ईमान वाला नहीं होता तो वहाँ साइड पे एक बोर्ड मारेगा वे ऑफ नॉन मुस्लिम वो पिलर है ना पिलर के ऊपर तीर मारेगा एयर ऑफ वे ऑफ नॉन मुस्लिम अगर ईमान नहीं होता तो मेरे को यहाँ से निकाल पहला तेरा ऐसा तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जिक्र करते हुए अब हम आगे बढ़े कि हमारी गाड़ी मॉलिम क्यों वहां जाएगी आ जाएगी मॉलिम के वहां हमारे पासपोर्ट जमा हो जाएगी उसके बदले में वो हमको पटा देगा क्या देगा तो सब पहले ये नहीं अपना कब खोड़ा लेंगे मेरे को दे दो अपना खो जाएंगे फिर हाँ चौकी बात फिर पच्चीस लाख तीस लाख में खबर नहीं कि अब्बा कहाँ गए हैं ये हमारा आइडेंटिटी कार्ड है समझ लो मुजू करे थे जब भी रहने रहने का ये मुसल करे तब भी निकालने का नहीं घड़िया निकालते चश्मे निकालते ऐसा इसको निकालने का नहीं ये मदीने से रिटर्न आएंगे वहां तक रखने का है जब तक पासपोर्ट हाथ में नहीं आया वहां तक गले में पहनने का कार्ड देंगे वो भी पहन लेने का सबको अपना अपना देंगे पहचान है ये अपना वहां की पहचान है शनाख्त है समझ गए भाई अच्छा। इसलिए ये सारी छोटी छोटी बातें हमारे ध्यान में रखी अब हम जब बिल्डिंग में पहुंचेंगे तो हमारे बिल्डिंग के अंदर हमारा नाम लिखेला जाए दरवाजे के ऊपर कि ये रूम में ये भाई रहे समझ गए तो उसका खास ख्याल करे घबरा नहीं जाए कि मेरा रूम गया सब इच्छा का इंतजाम पूरा है कोई फिक्र की बात नहीं अब सामान रखा अब हमको तमाम करने जाना है कहा जाना है उम्र का दूसरा बस तमाम करना बिल्कुल जाना है कहा जाना है क्या जो हमारी बिल्डिंग है हज कमेटी वालों की पांच सौ ने मानो बिल्डिंग है कितनी बिल्डिंग है पांच सौ ने मानो तो हमारा जो नंबर है उसके सामने बचने पड़ेगा चार बच्चे ना पड़े पड़े तो हमारे घर के सामने जो न हो गए तो वो बस के ऊपर नंबर लिखेगा होगा आठ नौ दस ग्यारह ऐसा नंबर दिए जाओ तो वो बस में अपने बैठ जाएंगे तो अपने घर के सामने जो बसते हैं तो अपने को बिल्डिंग ढूंढने में तकलीफ तो वो वो बस नंबर याद करना है बिल्डिंग नंबर और ये पहले दिन की बात है दूसरे दिन से तो सब उससे हो जाएंगे कहीं घबराने का इच्छा है समझ गए भाई पहले दिन अब अब तक को उमरा के लिए बैतूला जाना है कहाँ जाना है भाई लब्बे पड़ते हुए เป็นพุทธเจ้ไม่ได้ลาแก่ก็ทำไมเดี๋ยวพอมาด่าชนพุทธอีกเด็กๆสองสามในเรื่องแบบนี้พุทธพุทธพุทธทำไมทำไมทำไมพุทธพุทธเลยจ้าที่บดีนะเป็นพระเจ้าทปจ้าพุทธพุทธไปจ้าแล้วก็มาด่าพุทธพุทธอิสระทำไมเสียสละพุทธ लंबे पढ़ते पढ़ते हमने बैतूल्ला जा रहे हैं कहाँ जा रहे भाई बैतूल्ला जा रहे हैं बैतूल्ला पर पहली जीता पड़े तो दुआ कबूल पहले उर्दू से भारी हो जाए ये वफर की चलते उर्दू खाने में जाएंगे तो दरवाजे पर लटका देने की लटका देंगे और अगर अपने यूज लेके बैठ गए तो ये दोनों छेड़े नीचे पड़ जाएंगे तो वो गलते हो जाएंगे समझ गए इसलिए इसको ऊपर लटका दे या तो अपने जोड़ीदार को पकड़वाने के लिए पकड़ पे जरा वजू करके आता अपनों ने स्लीपर पहनी है क्या पहना है और वो मार्बल के पत्थर है और जो पत्थर है इतना तो पानी बढ़ाएगा तो चप्पल सिर जाने का डर है इसे धीरे धीरे चलने का जल्दी जल्दी चलने का नहीं अफवाह अपने में ध्यान देने का इतना पानी जो बड़ा हो जाता है बहुत जाएगा ये स्लीपर पे नहीं हम इसके लिए और पेशा पानी से पानी हो गए वजू करके इसलिए कि बगैर वजू में नमाज नहीं होती ऐसे बगैर वजू में तवाब भी नहीं होता तवाब के लिए भी वजू जरूरी मस्जिद में दाखिल होंगे तो सुन्नत के मुताबिक बिस्मिल्लाह बोलेंगे जुलूस शरीफ पढ़ेंगे सीधा पैर रखेंगे अल्लाह का हुआ और अहमदी को ऐसे काफी नियत है ये पांच सूत्र से अदा करके हम मस्जिद में दाखिल हो गए नीचे निकाह के साथ चले चप्पल को पहली में रख ले कहा रख ले वहाँ रैक रखे रैक का नंबर याद ले रखे ये रैक पर रखा कौन से दरवाजे से दाखिल हो दरवाजा नंबर याद कर ले होटल में गए थे तो वो कार देगा तो कार लेकर रख ले कौन से बिल्डिंग के अंदर रखते रहे वो अपने साथ रख ले लपेट पड़ते हुए मस्जिद में दाखिल हो गए नीचे निकाह के साथ चले एक सीढ़ी उतर लेके आएगी दो सीढ़ी आएगी कभी तीन सीढ़ी भी ऊपर लेके आएगी दो तो तीन सीढ़ियां उतरने के बाद तमाम करने वाले नजर आएंगे तो हम साइड पे खड़े होकर बैतुल्ला को निगाह भर के देखें काले किला का अल्लाह का घर है एक सौ बीस रहमतें उस पर नाजिल हो रही है अल्लाह अकबर लाएगा ही बताओ अल्लाह अकबर लाएगा ही बताओ अल्लाह अकबर लाएगा ही बताओ उसके बाद दूर शरीफ अल्लाह का सर दे अल्लाह शहीद मौलाना मोहम्मद अली को शरीफ उसके बाद दुआ मांगना शुरू करें ऐसा जो भी मांगो जिसके लिए मांगो वो कबूल करें शॉर्टकट एक दुआ मांगने नहीं जो भी मांगो जिसके लिए भी मांगो उसको जो कबूल करें उसके बाद जो मांगना हो मांगे घर की आसानी तंदुरुस्ती कबूलियत सारी चीजें मांगे खूब मांगे बिना दरवाजा को भी कह रहे कि भाई बैतुल में का पड़े तो दुआ मांगे इच्छा आता सुबह इच्छा आता बैतुल्ला में जीना पढ़ते ही आंखों में आंसू होंगे हमारे बाल खड़े हो जाएंगे रुआटे खड़े हो जाएंगे और आंखों में आंसू होंगे दिल धड़केगा ये कबूलियत की निशानी है ये आपकी कबूल हो ये कैफियत के साथ दुआ मांगे ये हमारे तीन लाख से अड़तीस हजार पर यहाँ मौजूद बैतुल्ला में टीका पढ़ने के साथ बदीरा जाएंगे वो नफे में ये तीन लाख तो यहाँ वसूल हो गए इससे कि हर मुसलमान की छेली तमन्ना क्या होती है अल्लाह तेरा घर दिखा दे कैसा ऐसा भी गुनेगा हासिल होगा उसकी तमन्ना होती है अल्लाह तेरा घर दिखा दे ये तीन लाख से उन्नीस हजार की कोई वैल्यू नहीं है अल्लाह का घर दिख लिया हमारे सारे पैसे की कीमत वसूल होगी इतने से दुआ मांगी अब तवाब शुरू करना है क्या शुरू करना है दवा शुरू करने से पहले कुछ बातें याद कर लेंगे एक सब्जेक्ट पर पहला काम दवा शुरू करने से पहले सब्जेक्ट पर दूसरा ये हमारा कंधा खोल रहे सीधी बाजू का जबड़ी बाजू का राइट हैंड साइड ये कंधा खोल गया दो तीसरा नियत कर क्या करें ऐसा उठने का तवाफ करता हूं आसान करना कौन सा नवाब अब बोले उमरे में पहला उमरे का नवाब का काम आता है हजरत असद के कोने के बिल्कुल शेर में आ जाओ पीछे हरी बत्ती जलती होगी हरी बत्ती के बिल्कुल सामने की साइड पर हजरत असद का घोड़ा है चार घोड़े वाला बैतुल्ला पहली मतलब हजरत असद के सामने आए हैं तो कानों का खाद उठा के छोड़ देवे इससे वाले काम इसको कहते एक ही वक्त करने का पहली वक्त करने का मिस्त्री चाहिए अल्लाह छोड़ दे कौन मिस्त्री चाहिए अल्लाह और वली ही हम छोड़ो जब भी भरोसा देंगे तो ये पढ़ने का बिस्मिल चाहिए अल्लाह और वली ही हम और ये हथेली को चूक देवे और सीधे हाथ की तरफ से दवा करना शुरू कर पहले तीन चैप्टर रबल के साथ पहलवान जैसी चाल अपनी भाषा में अपड़ के चलने का पहले चलने का हाँ, दुनिया में अपड़ के चलने का हुक्म नहीं है लेकिन यहाँ हुक्म है समझ पहलवान जैसी चाल छोटे छोटे कदम दूर से करेंगे तो धक्का मुक्की नहीं लगेगी अंदर घुस तो धक्का मुक्की लगने का डर है इसलिए दूर से करें इससे जाते दरवाजे को हमारे साथ साथ चलो दौड़ने का अवसर नहीं है अमुक आदमी रेस लगाता हुआ अमुक देर वाला तो हमें रेस लगाने के लिए इसमें सुबह तीसरा कलमा के साथ पहला चक्कर रुकने यमानी के पास पहुंचे तो ربنا آتنا ये तो पढ़ते पढ़ते आएंगे तो हजरत अहमद तो बिल्कुल सीध में आ गए अब पैर फिरा के लिए पैर चलने की पोजीशन में रहे सिर्फ हमारा चेहरा और हाथ हर चीज ही हम क्या बोलेंगे सात चक्कर आठ बजे होंगे रोजे कैसे होंगे होंगे और सात चक्कर में यह धंधा गुजारेगा पहले तीस चक्कर रबल के साथ बाकी के चार चक्कर शादी का पहले चक्कर में भूल गए रबल करना तो दूसरे में शुरू कर दे दूसरे में भूल गए तो तीसरे में शुरू कर दे तीसरे में भूल गए तो चौथे में रबल नहीं करना शुरू कर दे समझ पहले तीन चक्कर रबल बाकी के चार चक्कर साधे नहीं करेगा अब ये हमारे सात चक्कर हो गए आठ मोसे हुए मोसे कितने हुए हाँ। आठ अब हफ्ते को दो हजार नमाज पड़ती क्या करनी है एक तमाम का मतलब सात चक्कर बैतुल्ला के आठ मोसे और दो रकात नमाज इतने एक तमाम हुआ एक तवाब का मतलब बैतुल्ला के सात चक्कर आठ मोसे दो रकात मक्का में इब्राहिम बैतुल्ला के दरवाजे के सामने आज की कैबिन है उसमें इब्राहिम अली सलाम के पैरों के निशान का पत्थर है उसके पीछे उसके पीछे जितनी इतमान की जगह में रहे लोग तमाम करने वहां नहीं खड़े हो जाओ दूर और थोड़ी दूर और थोड़ी दूर इतमान से ये खद्दा ढांस का दो रखा नमाज पड़े तवाब की दो रखा नमाज क्या बोलेंगे ये दो रखा नमाज नहीं पढ़ेंगे तो तवाब नहीं होएगा तवाब अधूरा सवाल है नमाज नहीं लेकिन तवाब के लिए है वाजिब इसके बगैर तवाब पूरा नहीं होएगा इसलिए दो रखा अभी नमाज पढ़नी है नियत का करेंगे तवाब की दो रखा पहली रकात से पूजा फिर दूसरी में फिर तीन से बैठे दुआ इस तरह ये भी थोड़ा बहुत होने की जगह है ठीक है अब हम तक दिए क्या करेंगे तमाम के दौरान में बैतुल्ला की ऊंचाई नहीं दे रही बैतुल्ला की तरफ पीठ नहीं कर रही बैतुल्ला की तरफ सीना नहीं कर रहे और बावजूद तबाह कर रहे पहले चक्कर में दूसरे चक्कर में फिर तीसरे चक्कर में वजू टूट गया तो जो वजू टूटा वह वजू करके गए ये पहले तीन चक्कर फेल पहले में टूटा तो पहला भेद दूसरे में टूटा तो दोनों भेद तीसरे में टूटा तो एक ने एक से शुरू कर रहे चार चक्कर हो गए फिर भी वजू तो टूट गया तो चार जमा वजू करके आने का पांचवा छठा ने सातवा याद रहेगा चार अब हमने दो रखा समाज पढ़ी और जमजम पिए जमजम पीने में चार बातें याद है कितनी बातें खड़े रह पीना बैतुल्ला की तरफ मुंह करके पीना और दुआ मांग के बिना अल्लाह असदों का इज्मत नाफिया ऐसा दफे वाला ही दे वही सौ वासिया वसी रोजी दे वसी को की कुलता आयन की तंदुरुस्ती बोलो की मंदिर अपने फायदे किए तो याद करने की इच्छा अरे आदमी में याद नहीं हो रहे तो गुजराती तो उर्दू में भी बोलेंगे पढ़ेंगे दुआ मांगने की इच्छा ठीक है इच्छा नफे वाला इलम दे वसी रोजी दे कायम की तंदुरुस्ती दे आंखों पे सर पे बरकत हासिल करने के लिए डालते और चौथी बात जीप भर के पी लें कैसा पी लें भर के एक गलास दो गलास तीन गलास सादा पानी पिए और ठंडा पानी पिए ठंडा पानी बहुत ठंडा है इसलिए एहतियात करने का गला नाल हो गया तो बुखार आएगी गला नाल हो तो क्या होगा बुखार आए तो अपने तमाम छूट जाएगा इसलिए एहतियात करें ठीक है चल सादा पानी कौन सादा लगता हो जरा टीचर कर रही हो बराबर है इतना ज्यादा ठंडा पिया है ठीक है इंशाला अब अपने के स्वभाव पर कहा चलेंगे आप हाँ, बराबर अब अपने तवाफ करने के बाद कहा जाएंगे भाई सफा मरवा हुआ तो वहां जब चढ़ेंगे तो हजरा स्वर की वो हरी बत्ती वहां से क्रॉस होगी तो वहां खड़े खड़े नौवा दोसा दे देगा बिस्मिल्लाह अल्लाह और वलील्लाह हम ये सफा पे चढ़ने का बोझा है नौमा इसके लिए हम लोग को याद रहे कि सभा में आठ करे ये नौमा सफा पे चढ़ने का बोझा दुआ पढ़ते हुए उसको चढ़ जाओ सफा पे चढ़ गए चौथा कलमा पढ़े चौथा कलमा याद नहीं है तो किताब देंगे तो उसमें है लिखेगा उसमें पढ़ लेंगे चौथे कलमे में बहुत लोग लोचे हैं समझिए ऐसे तो कोई छोटी बात नहीं है इससे घबराना चाहिए यार चौदह कपड़ा याद नहीं तो क्या करेगा किताब बोल के पढ़ लेगा किताब साफ कर रखिए चौथा कर्म पढ़े दुआ मार के यहाँ भी दुआ कबूल बर्बाद में दुआ कबूल दरमिया के या दौड़े के वहां भी दुआ कबूल विजय लगे वहां भी दुआ कबूल इतने दुआ तीस आयत में जितनी देर लगती कुरान पढ़ने की कम से कम उतनी देर दुआ मांगनी चाहिए नियत है ऐसा उम्र की सही करता हूँ आसान भगवान सफा से पकड़ राइट साइड से करना शुरू कर ये चार बातें होगी कितनी बातें चौथा कर्मा पड़ा दुआ मांगी उसके बाद में ऐसा उम्र सही आकाश भगवान और सफा से भगवान जमुई तरफ से चलना शुरू थोड़ा उतरे के घास तो वहाँ हरी बत्तियां दिखे विजय नगर है एलईडी ग्रुप पांच छह लाइन है पंचोत्तर कदम है कितने कदम मर्दों को झपक के दौड़ता है झपक जैसे ऊपर से नीचे उतरते तो कैसा आदमी हो जाए इस तरह से घर वाले उनके थे वो हम यहाँ से दौड़ेंगे और वहां खड़े हो जाएंगे वो बड़ी गेट के बाद वहां जाकर खड़े हो जाना दीवार के साथ खड़े हो गए पलट के देख लेगा कोई किताब के लिख रहा है पलट के देख लो के लिए पलट के देख रहेगा अरे बोलो ना यार वो घर वाले साथ में है ना लोग ये तो पहले चक्कर में दोनों छोटे हो गए उसके भी चौदह चक्कर हो गए तुम्हारे भी चौदह वो तुमको ढूंढेगी तब उसको ढूंढेंगे इसका भी कुछ होएगा नहीं इसलिए ऐसी आइडिया लगानी कि यहाँ से वहां पर चक्कर हो जाए अलग अलग पलट के देखने का अपनी साथ में है बहन साथ में है घरवाली साथ में जो भी साथ में उसको साथ में लेकर परमा पे चढ़े तो सभा से मरवा एक परमा पे बैठ के दुआ मान लो बैठ के कहीं के लिए हूँ ये आलू पूरी पानी पूरी वाली कौन है ये समझ जा रही है सभा से बोला जाएगा इससे बहुत जवाब देते रहेंगे बहुत ज्यादा दूर नहीं है लेकिन हमें चलते हैं नौ मस्जिद में भी आते तो गाड़ी लेके आते बराबर है चलते आते इसलिए बैठकर तो हमारा इतना से बनाने जाने का बैठने की इजाजत यहाँ मजदूर हो जाए तो बनाने जाने की जरूरत है समझ गए कोरोना में बैठ के दुआ मांगो पानी पियो नाश्ता करो आपके रास्ते की रोटी तो खा जाने की थोड़ी पानी भी देगा इतमान से जरा शांत इतमान से हो गया और वापस बाबा से समझ गए वहां भी रास्ते में हरी बत्ती आएगी तो दौड़े मिले रास्ते में रफ्ती फिर वहां तीन सौ पांच साल आज तो लगा इतनी छोटी सी दुआ है मरवा पे फिर दुआ मांगी सभा पे फिर दुआ मांगी सभा से मरवा एक मरवा से सभा सभा से मरवा एक मरवा से सभा सभा से मरवा सामान्य संवाद है सात का चक्कर संवाद है शुरू किया संवाद है खत्म हुआ साढ़े तीन राउंड हुए राउंड कितने हुए इस तरह से एक रिटर्न तो आए तो दो ये तीसरा बाजी बना हो गया और चौथा काम हजार की दुकान पर पहले दिन अपन से बस करिए पांच दिया बजा नहीं मैं हमारा तली कर दो कम कर दो छोटी निकालता है बराबर है पहले दिन कहा आएगा अच्छा के हिसाब का निकलेंगे मरवा के बाद पठानी सूट के अंदर कोई भाई घर नहीं होगी अली साहब भला अली साहब उर्दू जानते हो पहले पूछ रहेगा क्या रहेगा भाई रिक्शा में बैठे तो बोलते ही नहीं हालांकि रोज स्टेशन जाते रोज मार्केट जाते लेकिन पूछते हैं मजबूर है वहां उत्तर के पानी करने के लिए समझ गए जैसे अपने गए भाई क्या हो गए तो वो समझ जाएगा कि आदि सब ठीक क्या है और अगर नहीं पूछा तो समझ जाएगा कि बड़ा फल मुर्गा हाथ में आया है माता करते करते करते करते माशाला दुकान तक ले जाएगा इंडिया में तो हमारे भी बहुत उल्टी दादा की एक भी उल्टी नहीं होगा छाटा छाटा और फिर दो मिनट में अलग कितने मिनट में क्यों करके प्लास्टिक उड़ा है हो गया पीने का साठ लिया था कितने लिया अरे बोलो बाबा साठ रियाल मांगेगा कितने रियाल साठ रियाल मांगेगा तो बड़े शुरू होगी कि मुसलमान धोखा खाता नहीं मुसलमान धोखा तो अपने भाव बुजुर्ग में ना करा जाएगी पहले बुजुर्ग भाई क्या रहेगा जरा भाव क्या हो उसको एक हजार दिया भाड़ा दे रखा है कितना तो छोड़ेगा तुम्हारे को कोई कीमत में नहीं छोड़े हाथ में आएगा छोड़ेगा कि पहला सवाल करेगा कितना आदमी और क्या आप दस आदमी है बोलो इच्छा का ईमानदारी से का बचा एक आदमी के पास और अगर तीस साल वाला तो एक के पचास ये अपना उभरा हो गया क्या हो गया मस्तूरा काटते हैं तो मस्तूरा की चोटी मस्तूरा की चोटी का छिल्ला किया ये चोटी का छिल्ला किया एक फोरवे से थोड़ा ज्यादा अमला की मामले लेने की उगली बात और एक फोरवे से थोड़ा ज्यादा कर्ता की लेने की दरवाजे को लेने की वो अपने हाथ से काटेगी समझ गए कि आपसे खुद भी काट सकते हैं वो डब्बा रहेगा उसमें डालते रहेंगे अभी भाई ने पूछेगा कि घर वाले जो है वो पौधे बेच सकते हैं घर वालों का स्वर ढकेला रहेगा हाजियाड़ी का स्वर ढकेला रहेगा अपना स्वर हाजियाड़ी के बजट से सीने में कपड़े रहेंगे उससे जो कपड़े पहने वही उसका हैराम है चक्कर उसका हैराम नहीं है समझ गए हाजियाड़ी ने बाल झांकने के लिए एक रुमाली भेजी है बीसम उसको कहता अपनी भाषा क्या कहते हैं पांच ढाकड़े के लिए थोड़ा सा उमर पाते हैं तो ये को कहेगा कि वजू कर जब ये रुमाल हटा लेंगे और शीर के बाल के ऊपर मसा करेगा हमारे भाइयों को भी हम कहते हैं कि टोपी उतार के मसा करेगा कैसे करेगा मदरसे तो के बच्चों को देखकर ये भी टोपी उतारते हैं और मदरसे के बच्चे तीन सौ पच्चीस लोग वजू करते हैं तो लोग धनाधन धनाधन वजू करते वजू कर रहे हो वो इतना हाथ करते का हमारे समझ नहीं उसमें बराबर करते हो लेकिन उन्होंने टोपी भेजी नहीं डॉक्टर ने देखा क्या बॉडी शॉप का बैठे डॉक्टर को टोपी भेजते तो टोपी को ऐसा नहीं कर देगा इसके बाद का ऐसा कर देगा समझिए उसमें नहीं रहेगा तो समाज नहीं रहेगा समझ लो उसमें नहीं रहेगा समाज नहीं रहेगी इसलिए घर वाले को सिखाने गई सब खुलना नहीं रहेगा समझ गए चेहरे को कपड़ा नहीं लगे लिए हैट पहनेगी वो उसके आगे पढ़ने डालेगी तो चेहरे को कपड़ा नहीं लगे बदल के शरीर में कपड़े होंगे गए वस्तुरात कौन मॉडल पहन सकती है वस्तुरात वस्तुरात ये तीन चीजों में वो हमारे साथ नहीं है वो सबसे गाड़ी कब तो पड़ेगी चलो तो बढ़ेगी अगर कोई गहन ऐसी है इसको यहां से नापाकी का फोन आ गया क्या आ गया और पेट की तारीफ अपनी ये बहन वजू करेगी नमाज नहीं पड़ेगी ये नियत करेगी ये लफेज करेगी फिर ये थोड़ा मांगेगी ये अपने साथ रहेगी बैतुल्ला का तलाश नहीं करेगी जब तक पाक नहीं होगी इसको मस्जिद के बाहर किसी जगह पर हम बिठा देंगे इतमान की जगह होगी वहां समझ के हम अपने अरकान पूरे करेंगे जब ये पाक हो जाएगी तो बगैर खुशबू वाला साफ इस्तेमाल करे गुजर करेगी पाक हो जाएगी फिर अपने अलग कपड़े पहनकर हमारे सामने फिर तबाह करेगी फिर सफा मरवा की सही करेगी फिर अपने सर के बाल की चोटी को काटेगी जिसका होना हो जाएगा याद रहेगा इच्छा अभी वो छाप तैयार है तो चार नहीं के सब इच्छा असर के बाद इशारा के बाप की बात होगी ये ममरे के चार काम इसको बार बार अपने रिपीट करेंगे सुबह तक करेंगे सुबह